ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد محترمات ومكرمات عزيز طالبات वमल्लिमात वसामीन जलसा आज इस जलसे में मेरी तकरीर का अनवान है एक लड़की को अपने मैके से ससुराल जाने के लिए कैसे तैयार हुए मेरी माँ बहने एक लड़की को अपने मैके से ससुराल जाने के लिए पहले से अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए कि अब हकीकी मैके से ससुराल जाने वाली है जहां आपको ताहयात रहना है और ज़िम्मेदारियों को अच्छे अंदाज में निभाना है मेरी बहनें मई का तो सिर्फ मदरसा है जो रिश्तों को और ज़िम्मेदारियों को निभाने का तरीक़ा सिखाता है मेरी माँ बहनें सास खुसर आपके हकीकी माँ बाप हैं देवर और नंदे आपके हकीकी बहन भाई हैं मेरी माँ बहने जिस तरह माँ बाप के घर में सब आपको खुश रखने की कोशिश करते हैं और आपकी ख्वाहिशों का एहतराम करते हैं इसी तरह आप भी अपने ससुराल के सब लोगों को खुशी देना है मेरी माँ बहने सबकी ख्वाहिशों का और सबके जज्बात का भी पूरा करना है मेरी बहनें ये सब आपके बाएं हाथ का खेल है मेरी बहनें अव्वल हर एक रिश्ते को मैके के रिश्ते से जोड़कर देखना दूसरा अपनी जिम्मेदारियों को खूब समझना मेरी बहनें खुला दिल रखकर हर वक्त कुर्बानी के जज्बे से सरशार रहना मेरी बहनें अपने अंदर की दुश्मनी को ख़त्म करना हर वक्त अपनी ज़ुबान को शीरें रखना मेरी बहनें सबकी तमन्ना और सबकी उम्मीदों से एक कदम आगे चलना फिर देखें कि ससुराल का हर आदमी आपके दिल से इज्जत करने लगेगा मेरी माँ बहनें जहाँ दो इंसानों के दरमियान की इज्जत वहतराम का पुल तामीर हो जाएगा मेरी माँ बहने वहाँ तमाम मुश्किलें आसान हो जाएंगी मेरी माँ बहने उसी ने नामी के सबक से औला जाता है मेरी माओ से ये गुजारिश है कि लड़की हमेशा पराई होती है इसलिए उसकी तरबियत में कोई कमी ना करे मेरी माँ बहने बाज़ अवकात लड़की ससुराल जाती है तो ना उसे ससुराल के तौर तरीक़ों का पता चलता है और ना ही शोहर की पसंद और नापसंद का मेरी माँ बहने ऐसे हालात में लड़की से बहुत सी गलतियां हो जाती हैं जो घरों में झगड़ों का सबब बनती हैं मेरी माँ बहनें माँ बाप का फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चियों की अच्छी तरबियत करें पहले से ससुराल जाने से पहले उसे ससुराल के तरीक़ों और ससुराल में उठने बैठने का सलीका सिखाए तो बहुत सी मुश्किलें आसान हो जाएंगी मेरी माँ बहने अपने बच्चियों को ये तालीम ज़रूर दें कि वो अपनी सास ससुर को आपके हकीकी माँ बाप जाने मेरी माँ बहने ज़िंदगी के मसाइल की इब्तदा इन्हीं मसलों से होती है मेरी माँ बहनों से ये गुजारिश है कि वो अपने बच्चियों को ससुराल भेजने से पहले उनकी अच्छी तरबियत करें लड़कियों को चाहिए कि वो ससुराल जाने से पहले अपने माँ बाप के घर में अच्छी तरबियत पाए करेंगे ना इन अल्लाह हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तोफ़ी अता फरमाए वमा अलैना इल्ला अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू माशाल्लाह देखो माँ सताना नहीं कहते देखो हाँ। अच्छा माशाल्लाह ये बच्ची की बात से खुश होकर हमारे करनूल के खड़कपुड़ा के अमीर साहब इनाम दिए हैं और इन्होंने मदरसे के लिए भी पाँच हज़ार का इनाम लिखाया है अल्लाह ताला कबूल फरमाए और तरक्की अता फरमाए और इस बच्ची के लिए एक इनाम और भी आया है माशाल्लाह इस बच्ची के लिए एक और भी इनाम आया है ये बच्ची क्या ज़्यादा तो अच्छी बात बता डाली क्या भाई वाह बाबा माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी कीमती बात है वाकई अल्लाह आसान फरमाए मदरसे के वास्ते दस्तगीर भाई पाँच सौ रुपये भी दी अल्लाह उनको भी कबूल फरमाया अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमाए देखो माँ वाकई जैसे बच्ची ने बताया कि सताना नहीं है किसी को मारना नहीं है जैसे हकीकी भाई जैसे हकीकी माँ बाप होते हैं वैसे ही अपने सास ससुर और नंदर देवर को समझना क्योंकि हकीकी तो नहीं बनते लेकिन उनके जैसा समझकर उनके दर्जे में रखकर जो है अगर ज़िंदगी गुजार बसर करेंगे तो सही होगा और उधर से भी नंदा और सासा हुए सुनो मेरी बच्ची ये जगह पे रहे तो कैसा काम कर सकती है उसी हिसाब से उन्होंने भी काम करा लेना देखेंगे कि पवा पे पवा डालने को खाटा को बैठ के रहना और ऐसे न भाऊ मुजरिम के सर का पूरे घर का काम करना ये भी ठीक नहीं तो माँ ये भी दुरुस्त नहीं इसलिए जिस तरीके से कि घर के अंदर के जैसे शादी होने से पहले बेटी जिस तरह से काम करती और जिस तरह से लाड़ चलता और जिस तरह से मोहब्बत करते उधर वाले भी मोहब्बत रखना इधर वाले भी मोहब्बत करना खुशगवार ज़िंदगी के लिए और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं लड़कियों को सिखाने की चीज़ों में और सबसे अफजल तरीन चीज़ें यही हैं कि हम लोग और जो है लड़कियों की बेहतरीन तरबियत करें क्योंकि लड़कियों का जो असल घर है और वो प्यौका नहीं है और बल्कि ससुराल है ज़्यादा ज़्यादा पंद्रह बरस रहेंगी बच्ची ज़्यादा ज़्यादा बीस बरस रहेंगी और ज़्यादा और ज़्यादा बोलिए तो बीस बीस और पाँच बरस के अंदर रहेंगी उसके बाद और जितने दिन जिंदा रहेंगी चालीस साल पचास साल साठ पर पाँच साल या सत्तर साल या अस्सी साल और वो तो शोहर के घर में रहना तो सबसे अच्छी जिंदगी माँ बाप के घर की नहीं और बल्कि लड़की को सबसे अच्छी जिंदगी ससुराल में गुजारना चाहिए ये बात समझकर हर औरत को और अपनी बच्चियों की तरबियत करने की तोफीक मरहमत फरमाए अल्लाह हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तोफ़ी दे और इस वक्त में और मैं तिलावत के फ़ायदे बताने के लिए तिलावत के फ़ायदे बताने के लिए हसीना बिनते गोकारी को दावत देता हूँ कि वो तिलावत के फ़ायदे बताएं